राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय पहचान एवं राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम बहादुर बच्चे दादाजी आप जब भी कहानी सुनाते हैं ना तो उसमें राजा किसी के बहादुरी से खुश होकर उसे सेनापति या मंत्री बना देता है <laughs> हाँ पर जब किसी पर गुस्सा होता है तो उसे देश निकाला भी दे देता है ओ दादाजी पहले पूरी बात तो सुनिए <laughs> हाँ भाई कहो कहो कहो क्या अब किसी की बहादुरी पर राजा उसे इनाम नहीं देता अरे राजा महाराजा अब होते ही कहाँ हैं जो किसी को इनाम दिया जाए <laughs> वाह इनाम देते क्यों नहीं 26 जनवरी को एक सजे हुए हाथी पर बैठे बच्चों की सवारी निकलती है कि नहीं वो बहादुर बच्चे होते हैं उन्हें सरकार से इनाम मिलता है अरे दादाजी हाथी पर बैठने से कोई बहादुर थोड़े ही हो जाता है <laughs> अरे वो तो देश भर के बहादुर बच्चे होते हैं हाँ सचमुच बहादुरी दिखाने के बाद वो हाथी पर बैठते हैं <laughs> दादाजी हम्म? क्या वो राक्षसों को मार देते हैं वे सात समुंदर पार से सोने का घोड़ा ले आते हैं ओफो बस परियों की कहानियां पढ़ी और लगे हवा में उड़ने <laughs> भाई ये बच्चे किसी की जान बचाते हैं कभी कोई किसी को डूबने से बचाता है कोई बच्चा जंगली जानवर से किसी को बचाता है रेल दुर्घटना तक बचाकर लाखों की जान बचाते हैं बच्चे और सबसे बहादुर बच्चे देश को खतरे से भी बचाते हैं देश को कैसे बचाते हैं खतरे से दादाजी <laughs> भाई मान लो किसी बच्चे को पता चला कि कहीं हमारा शत्रु आक्रमण करने वाला है या कोई किसी बांध या रेल या जहाज को नुकसान पहुंचाने वाला है तो वो उसकी खबर सही जगह देकर उस नुकसान को होने से रोकने की कोशिश करता है और इस तरह देश को खतरे से बचा लेता है और दादाजी देश को बचाने में वो खुद मर जाए तो तो क्या हुआ क्या अपने देश के लिए जान नहीं दे सकते हम हाँ। हमारा देश हमें कितना कुछ देता है उसे बचाने में हम अपनी जान भी दे सकते हैं शाबाश बच्चों ये सारा देश हमारा है मध्य प्रदेश में हूँ या आंध्र में उड़ीसा में हूँ या राजस्थान में हम सब एक हैं एक देश के हैं हाँ हाँ लेकिन दादाजी हम्म। देश भर के बहादुर बच्चों की बहादुरी की बात सरकार को कैसे पता चलती है हाँ ये पूछी ना समझदारी की बात बीनू ने देखो एक बाल कल्याण परिषद है दादाजी ये बाल कल्याण परिषद कहाँ है दिल्ली में ये बाल कल्याण परिषद देश भर में बहादुर बच्चों का लेखा जोखा रखती है फिर हर साल बहादुर बच्चों की सूची बनाई जाती है फिर उन्हें इनाम मिलता है हाँ, हाँ। उन्हें प्रशंसा प्रमाण पत्र मिलते हैं अखबारों और पत्रिकाओं में उनके बारे में लेख छपते हैं और फिर गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को एक सजे धजे हाथी पर बैठकर ये सब बहादुर बच्चे परेड में भाग लेते हैं दादाजी <laughs> हम्म? किसी बहादुर बच्चे के बारे में बताइए ना हमें हाँ हाँ लो सुनो एक बच्चा था लोभचुक कहाँ का था लोभचुक अरे भाई हमारे देश का था अरुणाचल प्रदेश में था उसका घर एक बार लोभचुक के गांव में बहुत सारे लोग आए कहीं से लोभचुक ने पूछा तो पता चला वो लोग तिब्बत से आए हैं उनके देश पर शत्रुओं ने हमला कर दिया था इसलिए वो भारत में आ गए थे अपना घर बार देश सब छोड़कर कुछ ही दिनों बाद लोभचुक के गांव के पास भारतीय सेना ने पड़ाव डाला सैनिक खाइए खोदते और गांव के लोगों को बंदूक चलाना सिखाते थे गांव के और बच्चों के साथ लोपचुक भी सैनिकों के पास जाया करता था दादाजी उसे डर नहीं लगता था सैनिकों से अरे डर क्यों लगता सैनिकों से वो तो उनकी रक्षा के लिए आए थे रक्षा करने क्यों आए थे दादाजी लोपचुक के गांव को किसका खतरा था अरे लोपचुक के गांव को ही नहीं पूरे देश को खतरा था शत्रुओं से शत्रु फौज भारत पर आक्रमण करने वाली थी उनको रोकने के लिए ही भारतीय सेना लोपचुक के गांव में आई थी खैर तो एक दिन लोपचुक स्कूल जा रहा था उसने क्या देखा कि सामने की पहाड़ी पर से कुछ नाटे नाटे पीले से रंग वाले सैनिक वर्दी पहने लोग उतर रहे थे उनके पास बंदूकें थीं लोपचुक को लगा हो ना हो यही शत्रु फौजी हैं वो एकदम वापस मुड़ा और भारतीय सेना के पड़ाव की तरफ दौड़ पड़ा दौड़ते दौड़ते वो बेचारा हाँप गया झाड़ियों के कांटों से उसके हाथ पैर छिल गए फिर भी लोपचुक दौड़ता रहा दौड़ता ही रहा आखिर वो भारतीय सेना के पड़ाव तक पहुंच गया और हाँपता हाँपता चिल्लाया शत्रु शत्रु सामने की पहाड़ों पर शत्रु हैं इसके बाद लोपचुक थकान से बेहोश हो गया बेचारा लोपचुक कितनी तकलीफ हुई उसे हाँ भाई तकलीफ तो हुई लेकिन बच्चों उसने अपने देश को तो बचा लिया अगर लोपचुक भारतीय सेना को शत्रुओं के बारे में ना बताता तो क्या होता तो शत्रु फौजें आगे बढ़ती चली जाती और हमारे सारे देश को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती और दादाजी कितनी शर्म की बात होती हाँ लेकिन अकेले लोपचुक ने अपनी परेशानी की परवाह ना करके अपने सारे देशवासियों को परेशानी से बचा लिया उसने अपनी जान खतरे में डाली लेकिन हजारों लोगों को मरने से बचा लिया सचमुच दादाजी लोपचुक ने बड़ी बहादुरी दिखाई नहीं तो हो सकता था हमारे देश को बड़ी आफत उठानी पड़ती हाँ सो तो है ही लेकिन देखा ना एक अकेला बच्चा भी कैसे अपनी बहादुरी से पूरे देश को संकट से बचा सकता है अपने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन भी संकट में डाल देता है दादाजी हमारी किताब में रामू की कहानी में बताया है कि रामू ने अपनी जान की परवाह ना करके एक रेलगाड़ी को नदी में गिरने से बचा लिया था <laughs> अरे हाँ मगर तुम कहीं इसे कोरी कहानी मत समझ बैठना ऐसा सचमुच हुआ था एक लड़के ने तो वाकई रेलगाड़ी को नदी में गिरने से बचा लिया था कैसे दादाजी बताइए ना उस लड़के के बारे में वो कहाँ रहता था उसका क्या नाम था उस लड़के का नाम था सुंदरलाल वो तीसरी कक्षा में पढ़ता था मेरी कक्षा में <laughs> अच्छा भाई वो रहता था नर्मदा नदी के किनारे एक छोटे से गांव बुदनी में ये गांव मध्य प्रदेश में है तो लो भाई सुनो सुंदरलाल के पिताजी रेलवे लाइन के चौकीदार थे सुंदरलाल रोज शाम को उनको खाना देने के लिए जाया करता था एक दिन जब सुंदरलाल अपने पिताजी को खाना देने जा रहा था तो क्या हुआ कि अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी बारिश से बचने के लिए सुंदरलाल एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया पेड़ के नीचे खड़ा सुंदरलाल सोच रहा था कि आज तो पिताजी को खाना मिलने में देर हो गई तभी उसने देखा कि उससे कुछ ही दूरी पर रेलवे लाइन पर एक बड़ी चट्टान पड़ी है रेल की पटड़ी भी उखड़ी हुई है ओहो फिर क्या किया सुंदरलाल ने वह दौड़ा बारिश और भीगने की परवाह किए बिना वह दौड़ता दौड़ता अपने पिताजी के पास पहुंचा और उन्हें पूरी बात बताई सुंदरलाल की बात सुनते ही उसके पिताजी नजदीक के रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ पड़े ताकि वहां से रेलों को आगे चलने से रोक दिया जाए अब रेलवे लाइन की चौकीदारी का भार सुंदरलाल पर था पिताजी को गए कुछ ही देर हुई थी कि रेल की सीटी सुनाई दी एक रेलगाड़ी बड़ी तेजी से पटरी पर थोड़ी चली आ रही थी सुंदर लाल ने इधर उधर देखा फिर कुछ सोचकर लाल बत्ती उठाई और रेल की तरफ दौड़ा वो लाल बत्ती दिखाता हुआ रेल की तरफ बढ़ता गया रेल के ड्राइवर ने जब लाल बत्ती देखी तो रेल रोक दी रेल पर सवार लोगों ने जब पटरी टूटी फूटी देखी तब सुंदरलाल की अकलमंदी और बहादुरी की तारीफ करने लगे हाँ दादाजी सुंदरलाल ना होता तो रेल नदी में गिर जाती और कितने लोग मारे जाते बिल्कुल ठीक उस साल सुंदरलाल को राष्ट्रपति ने एक बड़े समारोह में वीरता के लिए पुरस्कार दिया सब अखबारों में सुंदरलाल की वीरता की कहानी छपी दादाजी हम्म। लोभचुक और सुंदरलाल दोनों ने बड़ी बहादुरी दिखाई हम्म। अपनी जान खतरे में डाली ताकि दूसरों की जान बच जाए हाँ मुन्ना लेकिन दादाजी कभी ऐसा भी हुआ क्या कि किसी बच्चे की जान चली गई हो दूसरों को बचाते बचाते हाँ हाँ कई बार हुआ कई बार बच्चों ने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान भी दे दी बेचारों ने दादाजी फिर जब वो मर गए तो उन्हें इनाम कैसे मिला बच्चों उन्हें मृत्यु के बाद मिला जिसे मरणोपरांत पुरस्कार कहते हैं सितंबर 1983 में पटियाला के कुछ बच्चे नावों पर बैठकर सतलुज नदी पर सैर कर रहे थे अचानक नाव डूबने लगी एक दूसरी नाव उस नाव पर सवार बच्चों को बचाने के लिए आई संजय सेठी नाम का एक बच्चा उस नाव पर था संजय सेठी ने कई बच्चों को डूबने से बचाया दूसरे बच्चों को बचाते बचाते वो इतना थक गया कि खुद बेचारा तैर कर किनारे नहीं पहुंच सका संजय सेठी को मरणोपरांत पुरस्कार मिला दादाजी संजय सेठी कहाँ का रहने वाला था पंजाब का लेकिन उसका सम्मान सारे देश ने एक होकर किया आंध्र गुजरात कश्मीर उड़ीसा सब जगह के अखबारों ने उस बहादुर बच्चे की कहानी घर घर में पहुंचाई देश भर में तुम जैसे बच्चों ने इस कहानी को सुना और प्रेरणा पाई हाँ दादाजी अरुणाचल का लोपचुक और मध्य प्रदेश का सुंदरलाल भी हमें याद रहेंगे पंजाब का संजय अरुणाचल का लोभचुक मध्य प्रदेश का सुंदरलाल ये सभी भारतीय हैं सबका एक देश एक धरती और उनकी कहानी कहने सुनने वाले भी सब एक हैं भारतीय दादाजी हम कहीं भी रहते हों पर हैं तो हम सब भाई भाई हाँ हम सब एक हैं हाँ दादाजी हम सब एक हैं